देहाती कुफ्र और निफाक में ज़्यादा सख्त हैं और इसी लायक हैं कि जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल किया है उसकी हदूद को वो ना जाने और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला कमाल हमत वाला है